तब हृदय बसत लोभ खलना लोभमोहम जब लगी उडन बसत रघुना धरे चाप सा यकटिभा ममता तरुण समीयध्यारे रागद्वेष लुकसुखकारी। सुख कारी तबलि बसत जीवन माही जब लगी प्रभु प्रताप बिनानी लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते ममतापूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता अब लगी अब मैं कुशल मिटे भय भारे देख राम पद कमल तुम्हारे तुम कृपाल जाओ पर अनुकूला साहिन व्याप त्रिबुद भवसूला मैं निशरयति अधम स्वभाव शुभ आचरण किन्ह नहीं का जा स्वरूप मुनि ध्यान नयावा सही प्रभु हर से हृदय बोहिलावा हे श्री राम जी आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ मेरे भारी भय मिट गए हे कृपालु आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भौसूल आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक ताप नहीं व्यापते मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया अहो भाग्य मम अमितयते राम सुख पुञ्ज देखु नयन विरञ्च शिव सेव्य जुगल पदक हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा सुनहु सखा निज सुभाओ जान भुसुंडे शंभु गिर जा नर होई, चराचर दोहि आवय सभय तजि मद मोह कपट करं सद्यतहि साधु समा जननी जनक बन्धुसुतदारा तनु धनु भवन सुहृद परिवार श्री राम जी ने कहा हे सखा सुनो मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे कागभुसुंडी शिवजी और पार्वती जी भी जानती हैं कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके रे मम पद बट बाधि समदरसी समदर सिरेनाहि अरस शोक भय नही मनमा अस सजन मम उर्बस कैसे लोभी हृदय बसही धनु जैसे तुम सारी खे संत प्रिय मोरे धरऊ देह नहीं आननी हो इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बट कर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है जो समदर्शी है जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता सगुण उपासक परहित निरत नीत ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं दूसरे के हित में लगे रहते हैं नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है